और जब अल्लाह फरमाएगा ए मरियम के बेटे ईसा क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी मां को दो खुदा बना लो अल्लाह के सिवा अर्ज करेगा पाकी है तुझे मुझे रवा नहीं कि वो बात कहूं जो मुझे नहीं पहुंचती अगर मैंने ऐसा कहा हो तो जरूर तुझे मालूम होगा तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا